वो क्रोध से भर गया है और बुद्ध की ये बात सुन के कि वो कहते हैं कुछ और कहना है वो और हैरान हो गया और उसने कहा आप क्या कहते हैं ये आदमी थूक रहा है और आप पूछते हैं कुछ और कहना है बुद्ध ने कहा मैं समझ रहा हूं शायद क्रोध इतना भारी हो गया है कि शब्द कहने में असमर्थ मालूम होते होंगे इसलिए उसने थूक के कोई बात कही मैं समझ गया उसने कुछ कहा है अब मैं पूछता हूं और कुछ कहना है वो आदमी उठ गया है लौट गया है पछताया है रात भर सो नहीं सका है दूसरे दिन सुबह क्षमा मांगने आया है बुद्ध के चरणों में उसने सिर रख दिया सिर उठाया बुद्ध ने कहा और कुछ कहना है वो आदमी कहने लगा कल भी आप यही कहते थे बुद्ध ने कहा आज भी वही कहता हूं शायद कुछ कहना चाहते हो शब्द कहने में असमर्थ है इसलिए सिर पैरों पर रख कर कह दिया है कल ठूक कर कहा था पूछता हूं कुछ और कहना है वो आदमी बोला कुछ और नहीं क्षमा मांगने आया हूं रात भर सो नहीं सका मन में ये ख्याल हुआ आज तक आपका प्रेम मिला मुझे आज थूक आया हूं आपके ऊपर अब शायद वो प्रेम मुझे नहीं मिल सकेगा बुद्ध खूब हंसने लगे और उन्होंने कहा सुनते हो आनंद ये आदमी कैसी पागलपन की बातें कह रहा है ये कहता है कि कल तक मुझे आपका प्रेम मिला और कल मैंने थूक दिया तो अब प्रेम नहीं मिलेगा तो शायद ये सोचता है कि ये मेरे ऊपर नहीं थूकता था इसलिए मैं इसे प्रेम करता जो थूकने से प्रेम बंद हो जाए पागल है तू मैं प्रेम इसलिए करता हूं कि मैं प्रेम ही कर सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता हूं तू थूके तू गाली दे तू पैरों पर सिर रखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं प्रेम ही कर सकता हूं मेरे भीतर प्रेम का दिया जल गया अब मेरे पास से जो भी निकले उस पर प्रेम पड़ेगा कोई न निकले तो एकांत में प्रेम का दिया जलता रहेगा अब इसका किसी से कोई संबंध ना रहा अब ये कोई संबंध ना रहा ये मेरा स्वभाव हो गया प्रेम जब तक किसी से संबंध है तब तक आप शरीर के तल पर प्रेम खोज रहे हैं जो असफल हो जाएगा प्रेम जब जीवन के भीतर स्वयं के भीतर जला हुआ एक दिया बनता है रिलेशनशिप नहीं स्टेट ऑफ माइंड जब किसी से प्रेम एक संबंध नहीं है बल्कि मेरा प्रेम स्वभाव बनता है तब तब जीवन में प्रेम की घटना घटती है तब प्रेम का असली सिक्का हाथ में आता है तब यह सवाल नहीं है कि किससे प्रेम तब यह सवाल नहीं है कि किस कारण प्रेम तब प्रेम अकारण है तब प्रेम इससे उससे नहीं है तब प्रेम है कोई हो तो प्रेम के दिए का प्रकाश उस पर पड़ेगा आदमी हो तो आदमी वृक्ष हो तो वृक्ष सागर हो तो सागर चांद हो तो चांद कोई ना हो तो फिर एकांत एक में प्रेम का दिया जलता रहेगा प्रेम परमात्मा तक ले जाने का द्वार है लेकिन जिस प्रेम को हम जानते हैं वो सिर्फ नरक तक ले जाने का द्वार बनता है जिस प्रेम को हम जानते हैं वो पागल खानों तक ले जाने का द्वार बनता है जिस प्रेम को हम जानते हैं वो कल है द्वंद संघर्ष हिंसा क्रोध घृणा इन सब का द्वार बनता है वो प्रेम झूठा है जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं वो प्रभु तक ले जाने का मार्ग बनता है लेकिन वो प्रेम संबंध नहीं है वो प्रेम स्वयं के चित्त की दशा है उसका किसी से कोई नाता नहीं आपसे नाता है इस प्रेम के संबंध में थोड़ी बात समझ लेनी और इस प्रेम को जगाने की दिशा में कुछ स्मरणीय बातें समझ लेनी जरूरी पहली बात जब तक आप प्रेम को एक संबंध समझते रहेंगे एक रिलेशनशिप तब तक आप असली प्रेम को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे वो बात ही गलत है वो प्रेम की परिभाषा ही भ्रांत है जब तक मां सोचती है कि बेटे से प्रेम मित्र सोचता है मित्र से प्रेम पत्नी सोचती है पति से प्रेम भाई सोचता है बहन से प्रेम जब तक संबंध की भाषा में कोई प्रेम को सोचता है तब तक उसके जीवन में प्रेम का जन्म नहीं हो सकता संबंध की भाषा में नहीं किससे प्रेम नहीं मेरा प्रेम पूर्ण होना मेरा प्रेम पूर्ण होना अकारण असंबंधित 24 घंटे मेरा प्रेम पूर्ण होना किसी से बंधकर नहीं किसी से जुड़कर नहीं मेरा अपने आप में प्रेम पूर्ण होना ये प्रेम मेरा स्वभाव मेरी श्वास बने श्वास आए जाए ऐसा मेरा प्रेम 24 घंटे सोते जागते उठते हर हालत में मेरा जीवन प्रेम की एक भाव दशा एक लविंग एटीट्यूड एक सुगंध जैसे फूल से सुगंध गिरती है किसके लिए गिरती राह से जो निकलते हैं उनके लिए फूल को शायद पता भी ना हो कि कोई राह से निकले किसके लिए जो फूल को तोड़ के माला बना लेंगे और भगवान के चरणों में चढ़ा देंगे उनके लिए किसके लिए फूल की सुगंध किसके लिए गिरती है किसी के लिए नहीं फूल के अपने आनंद से गिरती है फूल के अपने खिलने से गिरती है फूल खिलता है ये उसका आनंद है सुगंध बिखर जाती है दिए से रोशनी बरसती है किसके लिए कोई अंधेरे रास्ते पर न भटक जाए इसलिए किसी के रास्ते के गड्ढे दिखाई पड़ जाएं इसलिए दिखाई पड़ जाते होंगे ये दूसरी बात है लेकिन दिए की रोशनी अपने लिए अपने आनंद से अपने स्वभाव से गिरती और बरसती प्रेम भी आपका स्वभाव बने उठते बैठते सोते जागते अकेले में भीड़ में वो बरसता रहे फूल की सुगंध की तरह दिए की रोशनी की तरह तो प्रेम प्रार्थना बन जाता है तो प्रेम प्रभु तक ले जाने का मार्ग बन जाता है तो प्रेम जोड़ देता है समस्त से सब से अनंत से इसका ये अर्थ नहीं है कि प्रेम तब संबंध नहीं बनेगा वैसा प्रेम 24 घंटे संबंध बनेगा लेकिन संबंधों पर सीमित नहीं होगा उसके प्राण संबंधों के ऊपर से आते होंगे गहरे से आते होंगे तब भी पत्नी पत्नी होगी पति पति होगा पिता पिता होगा माँ माँ होगी तब भी बेटे पर प्रेम गिरेगा लेकिन बेटे के कारण नहीं माँ के अपने प्रेम के कारण तब भी पत्नी का प्रेम चलेगा बहेगा लेकिन पति के कारण नहीं अपने कारण कॉजलिटी भीतर होगी भीतर से आएगा और बहेगा बाहर से कोई खींचेगा और बहेगा नहीं भीतर से आएगा और बहेगा वो अंतर्भाव होगा बाहर से खींचा गया नहीं अभी हम सब बाहर से खींचे गए प्रेम पर जी रहे हैं इसलिए वो प्रेम कलह बन जाता है जो भी चीज जबरदस्ती खींची गई है वो दुख और पीड़ा बन जाती है जो भीतर से स्पॉन्टेनियस सहज प्रकट हुई है वो बात और हो जाती है वो बात ही और हो जाती है तब जीवन बहुत प्रेमपूर्ण होगा लेकिन प्रेम एक संबंध नहीं साधक को स्मरण रखना है कि प्रेम उसकी चित्त दशा बने तो ही प्रभु के मार्ग पर सत्य के मार्ग पर यात्रा की जा सकती है तो ही उसके मंदिर तक पहुंचा जा सकता है पहली बात संबंध में प्रेम के भाव को भूल जाएं, वो परिभाषा गलत है वो प्रेम को देखने का ढंग गलत है जब कोई गलत ढंग गलत दिखाई पड़ जाए तो फिर ठीक ढंग देखा जा सकता है तो पहली बात है जो फॉल्स लव है वो जो झूठा प्रेम है जो संबंध को प्रेम समझता है उसकी व्यर्थता को समझ ले वो सिवाय असफलता के और चिंता के कहीं भी नहीं ले जाएगा फिर दूसरी बात है और वो दूसरी बात यह है कि क्या आपके भीतर से प्रेम का जन्म हो सकता है भीतर से बाहर कोई भी ना हो तो भी हो सकता है जब भी प्रेम का जन्म हुआ है तो वैसे ही हुआ है हमारे भीतर वो छिपा है बीज जो फूट सकता है लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया हम संबंध वाले प्रेम पर ही जीवन भर संघर्ष करते रहे हमने कभी ध्यान नहीं दिया उसके उसके पार भी कोई प्रेम की संभावना है कोई रूप है हम हमेशा रेत से तेल निकालने की कोशिश करते रहे रेत से तो तेल नहीं निकला निकल नहीं सकता था लेकिन रेत से तेल निकालने में हम भूल ही गए कि ऐसे बीज भी थे जिनसे तेल निकल सकता था हम सब संबंध वाले प्रेम से जीवन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं वहां से नहीं निकला है नहीं निकलेगा लेकिन समय खोता है शक्ति खोती है और जहां से निकल सकता था उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता है प्रेम चित्त की एक दशा की तरह पैदा होता है बस वैसा ही पैदा होता है जब भी पैदा होता है वैसा ही पैदा होता है उसे कैसे पैदा करे वो कैसे जन्म ले ले वो बीज कैसे टूट जाए और अंकुरित हो जाए तीन बातें तीन सूत्र संबंध में स्मरण रख लेने चाहिए पहली बात जब अकेले में हो तब तब भीतर खोज करें क्या मैं प्रेम पूर्ण हो सकता हूं जब कोई ना हो तब खोज करें क्या मैं प्रेमपूर्ण हो सकता हूं क्या अकेले में लविंग क्या अकेले में एकांत में भी मेरी आंखें ऐसी हो सकती हैं जिससे प्रेम पात्र मौजूद हो क्या अकेले में शून्य में एकांत में खाली में भी मेरे प्राणों से प्रेम की धाराएं उस रिक्त स्थान को भर सकती हैं जहां कोई नहीं कोई पात्र नहीं कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्या वहां भी प्रेम मुझसे बह सकता है इसको ही मैं प्रार्थना कहता हूं उनको नहीं प्रार्थना कहता कि हाथ जोड़े मंदिरों में बैठे हैं एकांत में जो प्रेम को बढ़ाने में सफल हो रहा है कोशिश कर रहा है वो प्रार्थना में है वो प्रेयरफुल मूड में है तो अकेले में बैठ के देखें कि क्या मैं प्रेमपूर्ण हो सकता हूं लोगों के साथ प्रेमपूर्ण होके बहुत देख लिया होगा आपने अब अकेले में थोड़ी खोज करें क्या मैं प्रेमपूर्ण हो सकता हूं पहला सूत्र एकांत एक में प्रेम पूर्ण होने का प्रयोग करे खोजे टटोले तो अपने भीतर हो जाएगा होता है हो सकता है जरा भी कठिनाई नहीं है कभी प्रयोग ही नहीं किया उस दिशा में इसलिए ख्याल में बात नहीं आ पाई है निर्जन में भी फूल खिलते हैं और सुगंध फैला देते हैं निर्जन में एकांत में प्रेम की सुगंध को पकड़े जब एक बार एकांत में प्रेम की सुगंध पकड़ जाएगी तो आपको ख्याल आ जाएगा कि प्रेम कोई रिलेशनशिप नहीं कोई संबंध नहीं प्रेम स्टेट ऑफ माइंड है स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस है चेतना की एक अवस्था है दूसरी बात दूसरा सूत्र मनुष्य इतर जगत में प्रेम का प्रयोग करें एक पत्थर को भी हाथ में उठाएं तो ऐसे जैसे किसी को प्रेम कर रहे हो एक पहाड़ को भी देखें तो ऐसा जैसा अपने प्रेमी को देख रहे हो मनुष्य इतर जगत में दूसरा पहला एकांत एक में दूसरा मनुष्य इतर जगत में पत्थर को रेत को सागर को देखें तो ऐसा जैसा प्रेमी को प्रेम बहा चला जाए आंख खो जाए कुर्सी को भी छुए भोजन की थाली को भी उठाएं तो ऐसे जैसे प्रेमी को स्पर्श कर रहे हो मनुष्य इतर जगत में क्यों क्योंकि मनुष्य को जब भी आप प्रेम करते हैं तो वहां से उत्तर आता है उत्तर आया कि रिलेशनशिप खड़ी हो जाती है संबंध खड़ा हो जाता है पत्थर को छुएंगे तो कोई उत्तर नहीं आएगा सागर को देखेंगे प्रेम से तो सागर कोई उत्तर नहीं देगा आपके गले में बाहें नहीं डाल देगा और कहेगा मैं भी आपको प्रेम करता हूं कोई उत्तर नहीं आएगा प्रेम निरुत्तर छूट जाएगा उस तरफ से कोई जवाब नहीं आने वाला है आप प्रेम करेंगे और प्रेम छूट जाएगा जवाब की आकांक्षा के कारण प्रेम मुक्त नहीं हो पाता संबंध बना रहता है एक व्यक्ति को मैं प्रेम करता हूं फिर मैं अपेक्षा करता हूं उत्तर आना चाहिए जब उत्तर नहीं आता तो फ्रस्ट्रेशन आता है दुख आता है पीड़ा आती चिंता आती है निरुत्तर प्रेम की संभावना बढ़नी चाहिए लेकिन निरुत्तर प्रेम की पहली संभावना मनुष्य के छोड़ के ही हो सकती है मनुष्य के साथ एकदम प्रयोग करने आसान नहीं है वृक्षों के साथ हो सकती है पौधों के साथ हो सकती है पत्थरों के साथ हो सकती है सागरों के साथ हो सकती है इसलिए प्रकृति में जो कुछ भी है उस पर प्रेम को भेजें वहां अपेक्षा नहीं वहां एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकता कि आप राह देखें क्या उत्तर आएगा उत्तर न रहेगा आपका प्रेम ही जाएगा और आपको पहली दफा पता चलेगा उत्तर के लिए नहीं है प्रेम प्रेम दान है मांग नहीं प्रेम देना है लौटना नहीं प्रेम का आनंद दे देने में है प्रेम का आनंद पा लेने में नहीं ये दूसरा सूत्र जब स्पष्ट हो जाएगा कि प्रेम दान है मांग नहीं कोई उत्तर की अपेक्षा नहीं है कोई रिस्पांस की जरूरत नहीं है हमने दे दिया और सागर ने स्वीकार कर लिया तो धन्यवाद है सागर का और पत्थर ने स्वीकार कर लिया तो धन्यवाद है पत्थर का लौटते उत्तर का कोई सवाल नहीं है तो ये दूसरा सूत्र स्पष्ट करेगा आपके भीतर उस संभावना को कि प्रेम एक चित्त की दशा है उत्तर नहीं है तो कोई संबंध नहीं बनता है फिर तीसरी बात पहला एकांत एक दूसरा मनुष्यतर जगत तीसरा असंबंधित मनुष्यता जिनसे आप संबंधित हैं उन पर नहीं जिनसे आप बिल्कुल असंबंधित हैं जिनसे कुछ लेना देना नहीं राह चलते लोग ट्रेन में बैठे हुए लोग बस में बैठे हुए लोग जिनसे कोई संबंध नहीं है जिनसे कोई नाता नहीं है उनके प्रति प्रेम पड़ोस में कोई आपके बैठ गया है बस में आके उसके प्रति प्रेम अपरिचित के अनजान के स्ट्रेंजर के प्रति तीसरे सूत्र में अजनबी के प्रति प्रेम क्योंकि अजनबी के प्रति प्रेम एक बात ही और है परिचित के प्रति प्रेम बात और है परिचित के प्रति प्रेम अपेक्षाओं से भरा है संबंधों से भरा है उसने कल कुछ किया था उसके कारण प्रेम है वो कल कुछ करेगा इस कारण प्रेम है उसका उस प्रेम के पीछे लाभ हानियां जुड़ी हैं उस प्रेम के पीछे याददाश्तें जुड़ी हैं अतीत जुड़ा है भविष्य जुड़ा है अजनबी से कोई संबंध नहीं है कल का आने वाले कल का भी कोई संबंध नहीं है उससे प्रेम निपट प्रेम है उसके आगे पीछे कोई लाभ हानि नहीं है कोई उपाय नहीं है कोई मार्ग नहीं है उसे हम जानते भी नहीं वो कहा विराट जगत में कल खो जाएगा कुछ पता नहीं है अजनबी के प्रति प्रेम असंबंधित मनुष्यता के प्रति प्रेम तीसरा सूत्र है अगर आपको अपने भीतर उस प्रेम को पैदा कर लेना है जिसे मैं स्टेट ऑफ माइंड कह रहा हूं जिसे मैं चित्त की दशा कह रहा हूं तो ये तीन सूत्र और जब आप पत्थरों को प्रेम कर पाएंगे सागर को प्रेम कर पाएंगे एकांत को प्रेम कर पाएंगे अजनबी को प्रेम कर पाएंगे तो जो निकट है जो संबंधित है उसे प्रेम नहीं कर पाएंगे उसे तो प्रेम कर ही पाएंगे वो तो सहज बह जाएगा ये तीन की तैयारी हो तो उसे तो प्रेम कर ही पाएंगे उसे तो बहुल प्रेम उपलब्ध हो जाएगा लेकिन उसके प्रेम में भी क्रांतिकारी फर्क हो जाएगा क्योंकि जिसने एकांत को प्रेम किया जिसने पत्थरों को प्रेम किया जिसने अजनबियों को प्रेम किया उसके प्रेम की क्वालिटी उसके प्रेम का गुण बदल जाएगा वो संबंधित को माँ बेटे को प्रेम करेगी तो भी ऐसे जैसे एकांत को करती हो ऐसे जैसे पत्थर को करती हो उत्तर की कोई अपेक्षा नहीं ऐसे जैसे अजनबी को करती हो जो कल भटक जाएगा तो कोई पीड़ा नहीं छोड़ जाएगा तब पत्नी पति को प्रेम करेगी पति पत्नी को प्रेम करेगा लेकिन उस प्रेम की क्वालिटी उस प्रेम का गुणधर्म बदल जाएगा उस प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं कोई मान नहीं कोई ईर्षा नहीं कोई द्वेष नहीं कोई कलह नहीं कोई छीना झपट नहीं वो प्रेम तब एक सहज दान हो जाता है और ये सहज दान जितना बढ़ता चला जाए जितना बढ़ता चला जाए उतना ही व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाता है विलीन हो जाता है प्रेम अहंकार की मृत्यु है प्रेम अहंकार की मृत्यु है और जहां अहंकार नहीं वहां हम हो गए एक समस्त से है वहां हम जुड़ गए विराट से वहां परमात्मा से मिलन हो गए उस मिलन की प्यास है उस मिलन की दौड़ है उस मिलन की आकांक्षा है बूंद सागर से टूट गई सागर होना चाहती है रेत हवाओं में उड़ गया एक कण अपने तट पर वापस लौट आना चाहता है ऐसा ही एक एक मनुष्य का व्यक्तित्व तो वापस लौटाना चाहता है प्रभु के सागर में हमने अब तक जो उपाय किए हैं वे सब उपाय गलत साबित हुए हैं या तो हमने झूठे प्रेम का उपाय किया है या हमने अहंकार का उपाय किया है वे दोनों उपाय व्यर्थ हैं सम्यक प्रेम राइट लव क्या होगा उस दिशा में मैंने तीन सूत्र कहे इनका प्रयोग करें ताकि आपके भीतर वो प्रेम जन्म पा सके जो आपका है जो आपका स्वभाव है जो आपकी श्वास श्वास है तब आप जो भी छुएंगे तब आप जो भी देखेंगे तब आप जो भी सुनेंगे वो सभी प्रेम पात्र वो सभी प्रीतम बन जाएगा वो सभी बिलवेड बन जाएगा और जिस दिन सारा जीवन प्रीतम बन जाता है उस दिन मनुष्य प्रभु के मंदिर में प्रविष्ट होता है उसके पहले नहीं उसके पहले नहीं उसके पहले कभी नहीं जिस दिन सारा जीवन प्रीतम बन जाता है दिन सारी खबरें उसकी ही खबरें हो जाती हैं उस दिन लेकिन ये कोई आसमान से नहीं घट जाएगी घटना ये प्रत्येक को अपने भीतर पात्रता प्रत्येक को अपने भीतर द्वार प्रत्येक को अपने भीतर एक ओपनिंग प्रत्येक को अपने भीतर के फूल को खिला लेना है तो ये घटना घट गट सकती है ये तीसरा सूत्र है चित्त को विस्मय से भरे जीवन के रस में तल्लीन हो और आत्मा को प्रेमपूर्ण करें फिर इन तीन सीढ़ियों को पार करें और देखें कि क्या हो जाता है अनंत संपदा है मनुष्य को पाने के लिए अनंत आनंद उसे उपलब्ध हो सकता है लेकिन हम व्यर्थ ही जीते और नष्ट हो जाते हैं एक छोटी सी घटना अपनी बात में पूरी करूं फिर हम सुबह के ध्यान के लिए बैठे एक राजधानी में एक भिखारी एक सड़क के किनारे बैठकर 20-25 वर्षों तक भीख मांगता रहा फिर मौत आ गई फिर मर गया जीवन भर यही कामना की कि मैं भी सम्राट हो जाऊं कौन भिखारी ऐसा है जो सम्राट होने की कामना नहीं करता जीवन भर हाथ फैलाए खड़ा रहा रास्तों पर लेकिन हाथ फैलाकर एक एक पैसा मांगकर कभी कोई सम्राट हुआ है मांगने वाला कभी सम्राट हुआ है मांगने की आदत जितनी बढ़ती है उतना ही बड़ा भिखारी हो जाता है सम्राट कैसे हो जाएगा तो 25 वर्ष पहले छोटा भिखारी था 25 वर्ष बाद पूरे नगर में प्रसिद्ध भिखारी हो गया था लेकिन सम्राट नहीं हुआ था फिर मौत आ गई मौत कोई फिक्र नहीं करती सम्राटों को भी आ जाती है भिखारियों को भी आ जाती है और सच्चाई से आज यही है कि सम्राट थोड़े बड़े भिखारी होते हैं भिखारी जरा छोटे सम्राट होते हैं और क्या फर्क होता होगा वो मर गया भिखारी तो गांव के लोगों ने उसकी लाश को उठवा के फिकवा दिया फिर उन्हें लगा कि 25 वर्ष एक ही जगह बैठ के वो भीख मांगता रहा सब जगह गंदी हो गई गंदे चीथड़े फैला दिए तीन टप्पर बर्तन भाड़े फैला दिए सब फिकवा दिया फिर किसी को ख्याल आया कि 25 वर्ष तक जमीन भी गंदी कर दी थोड़ी जमीन भी उखाड़ के थोड़ी मिट्टी भी साफ कर दो ऐसा ही सब व्यवहार करते हैं मर गए आदमी के साथ भिखारियों के साथ ही करते हो ऐसा नहीं जिनको प्रेमी कहते हो उनके साथ भी यही व्यवहार होता उखाड़ दी थोड़ी मिट्टी भी खोद डाली मिट्टी खोदी तो नगर दंग रह गया भीड़ लग गई सारा नगर वहां इकट्ठा हो गया वो भिखारी जिस जगह बैठा था वहां बड़े खजाने गड़े हुए थे सब कहने लगे कैसा पागल था मर गया पागल भीख मांगते मांगते जिस जमीन पर बैठा था वहां बड़े हंडे गड़े हुए थे जिनमें बहुमूल्य हीरे जवाहरात थे स्वर्ण सरफिया थी वो सम्राट हो सकता था लेकिन उसने वो जमीन न खोदी जिस पर वो बैठा हुआ था वो उन लोगों की तरफ हाथ पसारे रहा जो खुद ही भिखारी थे जो खुद ही दूसरों से मांग मांग के ला रहे थे वे भी अपनी जमीन नहीं खोदे होंगे उसने भी अपनी जमीन नहीं खोदी फिर गांव के लोग कहने लगे बड़ा अभागा था मैं भी उस गांव में गया था मैं भी उस भीड़ में खड़ा था मैंने लोगों से कहा उसके अभाग्य की फिक्र छोड़ो दौड़ो अपने घर अपनी जमीन तुम खो दो कहीं वहां कोई खजाने पता नहीं उन गांव के लोगों ने सुना कि नहीं आपसे भी यही कहता हूं अपनी जमीन खो दो जहां खड़े हैं वहीं खोद लें कहता हूं वहां खजाना हमेशा है लेकिन हम सब भिखारी हैं और कहीं मांग रहे हैं प्रेम के बड़े खजाने भीतर हैं लेकिन हम दूसरों से मांग रहे हैं कि हमें प्रेम दो पत्नी पति से मांग रही मित्र मित्र से मांग रहा है हमें प्रेम दो जिनके पास खुद ही नहीं है वे खुद दूसरों से मांग रहे हैं कि हमें प्रेम दो हम उनसे मांग रहे हैं भिकारी भिकारियों से मांग रहे हैं इसलिए दुनिया बड़ी बुरी हो गई लेकिन अपनी जमीन पर जहां हम खड़े हैं कोई खोदने की फिक्र नहीं करता वो कैसे खोदा जा सकता है वो थोड़ी सी बात मैंने कही वहां खोदे वहां बहुत खजाना है और प्रेम का खजाना खोदते खोदते ही एक दिन आदमी परमात्मा के खजाने तक पहुंच जाता है और कोई रास्ता न कभी था न है और न हो सकता है ये तीसरी सूत्र की बात पूरी हुई अब हम सुबह के ध्यान के लिए बैठेंगे सुबह के ध्यान के बैठने के पहले एक बात और आपसे कह देनी है दोपहर साढ़े तीन से साढ़े चार तीन दिन तक हमने बातचीत की शब्दों से मैंने आपसे कुछ कहा किसी ने सुना होगा किसी ने नहीं सुना होगा किसी ने सुन के भी समझ लिया होगा किसी ने सुन के भी नहीं समझा होगा शब्दों की अपनी सीमा है अपनी सामर्थ्य है शब्द उसे कहने में असमर्थ है जो दिखाई पड़ता है जो अनुभव होता है इशारे भर किए जा सकते हैं इशारे चूक भी सकते हैं तो दोपहर आज बिना शब्द के थोड़ी देर बात करेंगे दोपहर आज थोड़ा साइलेंस कम्युनिकेशन के लिए थोड़े मौन संभाषण के लिए बैठेंगे साढ़े तीन बजे आके मैं यहाँ बैठ जाऊंगा आप भी चुपचाप आके बैठ जाएंगे घंटे भर कोई बात नहीं होगी बस चुपचाप बैठेंगे कोई बातचीत नहीं होगी ऐसे बातचीत मैं करूंगा अगर आप तैयार रहे तो शायद कुछ आपको सुनाई पड़े कुछ पता चले लेकिन शब्द से कोई बात नहीं होगी एक घंटे चुपचाप यहाँ बैठे रहना जैसी आपकी मौज हो बैठ जाना किसी को लेटना हो लेट जाना किसी को वृक्ष से टिकना हो टिक जाना आंख बंद रखनी हो बंद रखनी खुली रखनी हो खुली रखनी बस एक की बात नहीं होगी आपस में भी नहीं कोई बात होगी मुझसे भी कोई बात नहीं होगी चुपचाप यहाँ आपके पास बैठूंगा घंटे भर देखें शायद चुपचाप होने में कुछ आपको सुनाई पड़े कोई संबंध हो जाए जीवन के सब संबंध मौन में होते हैं शब्द तोड़ते हैं मौन जोड़ता है तो उस प्रयोग को यहां आज आखिरी दिन है फिर आज तो विदा हो जाएंगे इसलिए घंटे भर मौन में बैठेंगे एक मौन संभाषण के लिए तैयारी चाहिए मौन के लिए थोड़ी तो साढ़े तीन बजे यहाँ आएंगे ढाई बजे से आप थोड़ी वहां तैयारी करना ढाई बजे से ही थोड़ा चुप हो जाना शुरू कर देना क्योंकि विचार का मोमेंटम होता है एक चक्के को हम चला दें फिर छोड़ दें तो भी पंद्रह बीस मिनट तक वो चक्का चलता चला जाता है चलता चला जाता ढाई बजे से आप शिथिल छोड़ देना बात करने को तो शायद साढ़े तीन बजे तक थोड़ी चुप्पी आ पाए तो उसकी थोड़ी तैयारी कर अच्छा हो कि स्नान करके आए साढ़े तीन बजे जब यहाँ आए ताजे ताजे वस्त्र पहन के आए ताकि एक बिल्कुल नई दिशा में गति हो सके फिर वहां से आए तो रास्ते में भी बात करते हुए ना आए यहां भी कोई बात ना करे ऐसा ही समझें कि आप अकेले आ गए किसी की फिक्र ना करें कि कौन है कौन नहीं है चुपचाप बैठ जाए इधर मैं आके साढ़े तीन बजे बैठ जाऊंगा चुपचाप घंटे भर हम बैठे रहेंगे किसी को आंसू आ जाए तो रो ले किसी को हंसी आ जाए तो हंस ले कोई भी भाव उठ जाए तो बह जाने दे जरा भी बाधा ना डाले जरा भी रोके नहीं किसी को मन हो जाए तो दो क्षण मेरे पास आके बैठ जाए फिर चुपचाप उठ के चला जाए किसी को मन हो तो निश्चित उठ के आ जाए उसे रोके नहीं लेकिन दो मिनट मेरे पास बैठे ज्यादा नहीं ताकि फिर कोई और आना चाहे तो आ जाए फिर चुपचाप ही बैठे और चला जाए एक घंटे किसी का मन बीच में उब जाए तो चुपचाप उठे और चला जाए जबरदस्ती न बैठा रहे एक घंटे बाद में उठ जाऊंगा फिर धीरे धीरे जब जिसकी मौज हो वो उठता हुआ चला जाए और चला जाए वो एक घंटे के लिए हम बैठेंगे उसकी तैयारी करके आए हैं शब्दों को समझने के लिए उतनी तैयारी की जरूरत नहीं होती मौन को समझने के लिए बहुत तैयारी की जरूरत है लेकिन मेरी कोशिश है कि धीरे धीरे धीरे धीरे जो लोग मेरे निकट आते हैं वो केवल शब्द ही न समझे वो मौन को भी समझना शुरू करें क्योंकि आज नहीं कल जो और जरूरी बातें मुझे आपसे कहनी है वो शब्दों से नहीं कही जा सकती वो तो फिर मौन से ही कही जाएंगी तो जो मौन को समझने में समर्थ होने लगेंगे फिर जो और गहरी बातें हैं उनके कहने का द्वार उनसे खुल जाएगा तो वो ढाई बजे से आप तैयारी करेंगे साढ़े तीन बजे जैसे कोई मंदिर में जाता हो और मौन से बड़ा कोई मंदिर नहीं है उतनी पवित्रता से स्नान करके ताजे कपड़े पहन के चुपचाप ढाई बजे से ही तैयारी में कि उसकी धुन भीतर घुस जाए फिर यहां आके चुपचाप बैठ जाना है फिर यहां जैसा भी मन हो इंडोनेशिया में ध्यान का एक प्रयोग होता है उसका नाम है लातिहान आज नहीं कल इस मुल्क में भी उस प्रयोग को मैं लाना चाहता हूं कि वो यहां आ जाए लातिहान में दो चार दस लोग चुपचाप बैठ जाते हैं चुपचाप बैठे रहते हैं फिर किसी को रोने का हो आता तो रो लेता है किसी को नाचने का हो आता तो नाच लेता है और एक घंटे की लातिहान के बैठक के बाद जो अनुभव उन्हें होते हैं उनका कोई हिसाब नहीं छोड़ देते हैं बिल्कुल रिलैक्स जो होना है होता है हाथ पैर हिलते हैं तो हिलते हैं उठने का मन होता तो उठते हैं बैठने का मन होता बैठते हैं लेटने का मन होता लेटते हैं छोड़ देते हैं पूरा परमात्मा के चरणों में प्रभु के चरणों में समर्पण कर देते हैं जो कराना होगा कराएगा नहीं कराना होगा नहीं कराएगा उसके अद्भुत परिणाम है गहरे परिणाम है जीवन क्रांति के लिए तो एक घंटे का दोपहर जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें बिल्कुल छोड़ देना है एक समर्पण का भाव कि अब मैं हूं ही नहीं अब एक घंटे जो होगा होगा आंसू आ जाएंगे तो रोकने नहीं है बहेंगे बह जाएंगे जो होगा होगा और किसी को भी लगे कि दो क्षण मेरे पास आना है तो मेरे पास आके बैठ जाएगा समझेगा कि उसे मैंने बुलाया है चुपचाप फिर उठ के चला जाएगा कोई बात नहीं होगी वो साढ़े तीन बजे यहाँ आ जाना है अब हम सुबह के ध्यान के लिए बैठे अभी मेरी जो बात इतनी सुनी है उसने जरूर भाव बना दिया होगा थोड़े दूर दूर हो जाएं कोई किसी को छूता हुआ न हो चुपचाप बिना बात किए हुए थोड़े फासले पर हट जाएं ठीक है हट जाएं अलग अलग मौन बैठ जाएं आज सुबह की तो यह अंतिम बैठक होगी फिर ये सागर की आवाज सुनाई पड़े ना पड़े फिर इन वृक्षों से मिलना हो ना हो फिर ये दिन आए ना आए ये सुबह आए ना आए इसलिए जो मौजूद है उसमें पूरी तल्लीनता को पूरे आनंद को पूरे प्रेम को उपलब्ध हो जाना चाहिए शरीर को ढीला छोड़ दें आंख आहिस्ता से बंद कर लें आंख धीमे से बंद कर लें शरीर को शिथिल छोड़ दें अब हम ध्यान में प्रविष्ट होते हैं मौन सुनते रहना है हवाओं की आवाज पक्षियों के गीत सागर का गर्जन मौन सुनते रहना है बस चुपचाप सुनते रहे सुनते रहे ये धूप ये किरणें ये हवाएं ये सब मिलके कोई एक अद्भुत अवसर पैदा कर रही है उसमें सम्मिलित हो जाएं इस धूप के साथ इन हवाओं के साथ एक हो जाए चुपचाप सुनते रहे सुनते ही सुनते मन शांत और मौन होता जाएगा सुनते ही सुनते मन शांत और मौन होता चले सुने देखें पक्षी भी बोलने को आ जाते हैं सुने दस मिनट के लिए सिर्फ सुनते रह जाएं, सुने सुनते ही सुनते मन शांत होता जाता है सुनते ही सुनते मन शांत होता जाता है मन बिल्कुल शांत पक्षियों को सागर को मन शांत होता जा रहा है मन शांत होता जा रहा है मन बिल्कुल शांत हो जाएगा सूरज की किरणें रह जाएंगी वृक्षों की डोलती छाया रह जाएगी हवाएं रह जाएगी सागर का गर्जन रह जाएगा लेकिन आप आप बिल्कुल मिट जाएंगे सुनते रहे सुनते ही सुनते भीतर कुछ पिघल जाएगा मिट जाएगा सब शांत हो जाएगा Muchas gracias. रह गई आप आप नहीं रहे मिट गए बह गए खो गई बूंद सागर में मन शांत हो गया सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे बिल्कुल छोड़ दें मन शांत रह गई सूरज की किरणें रह गई सागर का गर्जन रह गया आप मिट गए छोड़ दें अपने को मिट जाए चार गहरी सांस फिर बहुत आहिस्ता से आंख खोले जैसी शांति भीतर है वैसी ही बाहर भी है धीरे धीरे आंख खोले जो भीतर है वही बाहर भी है धीरे धीरे आंख खोले देखें वृक्षों को देखें सूरज की किरणों को जो भीतर है वही बाहर Sune talks from the series Shunya Now, given at meditation camp, Nargol, India, discourse number 7. शिविर के इस अंतिम मिलन में थोड़ी सी बात मुझे और आपसे तीन दिन पहले हमारी जो अंतर यात्रा शुरू हुई थी उसका आज अंतिम चरण है सारे जीवन की ही कथा ऐसी है जो दो दिन पहले शुरू होता है वो दो दिन बाद समाप्त हो जाता है हम सोच भी नहीं पाते कि अंत करीब आ जाता है जीवन में सब कुछ ऐसे ही समाप्त हो जाता है विदा की कोई तैयारी तो नहीं होती लेकिन विदाई लेनी पड़ती है जैसे असमय में लगता है कि अलग हो गए ऐसा ही जीवन के अंतिम चरण में भी लगता है कि अलग होना पड़ रहा है लेकिन उसकी तैयारी हो सकती है एक एक पल ऐसे जिए जा सकता है इस भांति कि जैसे हम विदा के लिए हमेशा तैयार हैं और जो व्यक्ति प्रत्येक पल को ऐसे जीता है कि दूसरे पल अंत संभव है वही व्यक्ति जीवन के परिपूर्ण आनंद को जीवन के अमृत को उपलब्ध हो पाता है एक यात्रा में मैं था वर्षा के दिन थे और बीच में एक नाला सूर पर आ गया सेतु तो डूब गया था और गाड़ी रोक कर कोई दो घंटे वहां रुक जाना पड़ा पानी उतरेगा तब नदी पार की जा सकेगी और भी दो गाड़िया मेरे पीछे आई और रुक गई उन गाड़ियों में जो व्यक्ति थे मैं उनसे अपरिचित था लेकिन उन्होंने संभवतः मेरी बातों के संबंध में कुछ सुना होगा नदी के किनारे पत्थर पर बैठा हुआ देखकर एक गाड़ी के तीन व्यक्ति मेरे पास आके बैठ गए और कुछ बात करने लगे दो घंटे वहां बैठना था मैं उनसे कुछ बात करता रहा फिर नाव फिर नदी का पानी उतर गया वे अपनी गाड़ी उतारने को हुए तो उन्होंने मुझसे कहा आपकी बातें बहुत अच्छी लगी अब जब हम लौट कर आएंगे तब जरूर आपसे मिलेंगे और आपकी बातों पर कुछ प्रयोग करने का प्रयास करेंगे मैंने उनसे कहा लौट के आने का कोई भी भरोसा नहीं हो सकता है आप लौट रहे लेकिन मैं न बचू हो सकता है मैं बचू आप न लौटे हो सकता है हम दोनों बचे और मिल ना सके सभी कुछ हो सकता है और एक छोटी सी कहानी मैंने उनसे कही फिर हफ्ते में हम विदा हो गए एक छोटी सी कहानी मैंने उनसे कही पता नहीं था कि वो कहानी क्या परिणाम ले आएगी मैंने उन्हें कहा कि एक सम्राट था चीन में अपने वजीर को उसने फांसी की सजा दे दी थी कुछ शक हुआ कुछ संदेह हुआ और नजीर को बंद कर दिया कारागृह में कल सुबह उसे फांसी लग जाएगी नियम था उस राज्य का कि फांसी के पहले सम्राट स्वयं कैदी से मिलता था उसकी कोई अंतिम इच्छा हो तो पूरी कर दे फिर ये तो वजीर था सम्राट का बड़ा वजीर था तो उस कल सुबह फांसी होनी है आज संध्या अपने घोड़े पर सवार होकर कारण ग्रह के पास पहुंचा घोड़े को बाहर बांधा फिर भीतर गया शिक्षियों के भीतर द्वार के पास ही उसका बड़ा वजीर कैद था सम्राट को उसने देखा और वजीर की आंखों से आंसू बहने लगे सम्राट हैरान हुआ वजीर एक बहादुर आदमी था जीवन के बहुत कष्ट जीवन में मृत्यु का बहुत बार मुकाबला किया था आशा न थी कि वो रोने लगेगा मृत्यु के कारण सम्राट उसे समझाने लगा कि तुम रोते हो तुम भयभीत हो तो वजीर कहने लगा मृत्यु से नहीं किसी और बात से रोता हूं सम्राट ने कहा और क्या बात है कहो मैं पूरी करूँ इसीलिए आया हूं कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो पूरी करो उसने कहा नहीं आप न कर सकेंगे बहुत कठिन हो गई ये बात तो रोता हूं इसलिए छोड़ दे लेकिन जाने दे वो आपसे नहीं हो सकेगा सम्राट ने कहा फिर भी तुम कहो उस वजीर ने कहा इसलिए नहीं रो रहा हूं कि कल मर जाऊंगा मरने का तो कोई सवाल नहीं जिंदगी तो हमेशा दाव पर है किसी भी क्षण मरा जा सकता है रो रहा हूं आपके घोड़े को देखकर वो द्वार पर घोड़ा बना है सम्राट ने कहा घोड़े को देखकर घोड़े से क्या संबंध वो वजीर कहने लगा मैंने कला सीखी थी घोड़े को आकाश में उड़ना सिखाने की लेकिन जिस जाति के घोड़े को आकाश में उड़ना सिखाया जा सकता है वो जीवन भर मुझे नहीं मिल सका और आज जबकि कल मेरी मौत आने को वो घोड़ा द्वार पर बना है जिस घोड़े पर आप बैठ कर आए हैं इसी जाति के घोड़े की मैं खोज में था इसलिए दोहराऊ की जीवन में एक कला सीखी थी उसका उपयोग न कर पाया मौत करी पा गई सम्राट का लोभ आकाश छू गया घोड़ा आकाश में उड़ सकता है तब तो दुनिया में उस जैसा कोई सम्राट न रह जाएगा अगर उसका घोड़ा आकाश में उड़े उसने कहा वजीर जंजीर खोल दी जाए वजीर की और वजीर से कहा कितने दिन में ये बात हो सकती है धोखा मत देना वजीर ने कहा कम से कम एक वर्ष लग जाए सम्राट ने कहा कोई फिक्र नहीं अगर एक वर्ष में घोड़ा उड़ना सीख गया तो तुम अपने जगह वापस ले लिए जाओगे न केवल ले लिए जाओगे बल्कि आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा पुरस्कार में और अगर नहीं ये हो सका तो ठीक है साल भर बाद फांसी दी जा सकेगी वजीर घोड़े पर सवार होकर अपने घर पहुंच गया सांझ तो उसके घर में दिए भी नहीं जलाए गए थे कल सुबह उसकी मौत होने उसकी पत्नी उसके बच्चे उसके परिजन रोते थे उसे सामने देखकर उन्हें विश्वास में आया उसकी पत्नी उससे पूछने लगी कैसे वापस आ गए हो उसने सारी बात बताई उसकी पत्नी छाती पीट कर रोने लगी कि तुम कैसे पागल हो तुमने तो कभी कोई कला नहीं सीखी घोड़े को आकाश में उड़ाने की तुम क्यों झूठी बात बोला है और अगर झूठ ही बोला था तो एक साल के लिए बोला तो कोई दस बीस साल के लिए बोला था एक वर्ष तो ऐसे बीत जाएगा तुम्हारी मृत्यु से भी ज्यादा कठिन हो जाएगा ये वर्ष बिताना एक एक पल बीतेगा लगेगा मौत आती मौत आती वो वजीर हंसने लगा उसने कहा पागल तू जानती नहीं एक वर्ष बहुत बड़ा है एक पल भी बहुत बड़ा है कौन जाने वर्ष भर में मैं मर जाऊं राजा मर जाए घोड़ा मर जाए कुछ भी हो सकता है एक वर्ष बहुत बड़ा है और ऐसा हुआ वजीर ही नहीं मरा राजा ही नहीं मरा घोड़ा ही नहीं मरा उस वर्ष में तीनों मर गए उस वर्ष तीनों मर गए वर्ष इतना बड़ा साबित हुआ एक पल इतना बड़ा साबित हो सकता है तो मैं उन मित्र को विदा करने लगा उनकी गाड़ी पर उनसे मैंने ये कहानी कही वो हंसने लगे मैं भी हंसने लगा हम विदा हो गए वे गाड़ी निकाल गए बड़ी गाड़ी थी फिर थोड़े कोई दस मिनट बाद मैं भी अपनी गाड़ी निकालकर पीछा पार किया नदी कोई दो मील बाद ही जिन्हें मैंने जिंदा छोड़ा था वो मुझे मृत मिले उनकी गाड़ी तो टकरा गई थी और वे तीनों वही स्थान पर ही मर गए थे मेरा ड्राइवर कहने लगा चलते वक्त आपने कहानी कही थी तीन के मर जाने ये तीन तो ये तो मर गए और ये तो इस ख्याल में थे कि लौट कर आएंगे आपकी बातें ठीक लगी थी फिर कुछ प्रयोग करेंगे जिंदगी ऐसी ही है दोबारा लौटकर मिलेंगे नहीं मिलेंगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता राजा मर सकता है वजीर मर सकता है घोड़ा मर सकता तीनों भी मर सकते हैं जिंदगी इतनी ही बेबूज है इसलिए अंतिम विदा के क्षण में आपसे ये कहना चाहता हूं एक एक पल को इस भांति जीना के दूसरे पल का कोई भी भरोसा नहीं ये बोध ही मनुष्य को साधक बनाता है ये बोध ही कि एक एक पल अंतिम हो सकता है जैसे घास की पत्ती पर पड़ी हुई सुबह और उसकी बूंद कपती है जरा सा हवा का झोंका और बूंद नीचे गिर जाएगी और बिखर जाएगी वैसे ही मनुष्य का जीवन प्रतिपल किसी ओस की बूंद की तरह घास की पत्ती पर कपटा हुआ है किसी भी क्षण बूंद गिर जाएगी और सब समाप्त हो जाएगा ये जो क्षण भर के लिए जीवन है ये जो क्षण भर के लिए श्वास है जो क्षण भर के लिए चिंतन और मन में और अवसर है क्या इस अवसर से हम उस जीवन को पाने की दिशा में कोई कदम रख सकते हैं जहां कोई मृत्यु नहीं जहां अमृत है जहां परम जीवन है एक ही बात स्मरण रखने की है कि जिसे हम जीवन समझते हैं वो जीवन नहीं एक क्षण भर का अवसर है उस अवसर को हम परम जीवन को पाने की सीढ़ी बना सकते हैं चाहे तो अन्यथा खो भी सकते हैं साधक का यही अर्थ है कि उसने इस जीवन को चरम नहीं मान लिया अंतिम नहीं मान लिया इसे एक अवसर एक अपॉर्चुनिटी एक मौका बनाया है ताकि वो और गहरे जीवन को और परम जीवन को और अमृत जीवन को पाने की दिशा में कदम रख सके एक एक पल को इस भांति समझना की बूंद किसी भी क्षण गिर सकती है तो फिर एक एक पल साधना हो जाएगी एक एक श्वास साधना बन जाएगी एक एक दिन एक एक रात जीवन को क्रांति में ले जाने का मार्ग बन सकता है ये पहली बात जीवन की क्षण गंभीरता का स्मरण ताकि जीवन को गंवाया न जा सके खोया न जा सके जीवन एक उपलब्धि बन सके दूसरी बात इन तीन दिनों में साधना की जिस दिशा के और कुछ इशारे मैंने किए और आपने कुछ इशारे पकड़े हैं पकड़े होंगे आपने कुछ कदम चले हैं चले होंगे तो इन कदमों को वही मत रोक देना उन कदमों को आगे भी एक सातत्य एक कंटिन्यूटी उपलब्ध होनी चाहिए मिलनी चाहिए तो ही किसी दिन द्वार खुल सकता है लेकिन हम उस किसान की तरह सुना होगा आपने एक किसान बड़ा खेत था उसके पास उसने कुआ खोदने चाहे ताकि पानी मिल सके फसलें हो सके उसने एक कुआ खोदना शुरू किया लेकिन चार छह खोदा होगा पानी तो निकला नहीं तो उसने सोचा कि यहाँ पानी नहीं निकलेगा उसने वो गड्ढा वैसे छोड़ दिया फिर दस पांच दिन विश्राम किया और दूसरी जगह गड्ढा खोदा फिर दस पांच हाथ खोदा फिर वहां भी पानी नहीं निकला उसने सोचा कि यहाँ भी पानी नहीं निकलेगा फिर कुछ दिन विश्राम किया फिर गड्ढा खोदा धीरे धीरे पूरा खेत गड्ढों से भर गया लेकिन पानी कहीं भी नहीं निकला तब वो रोने लगा बैठकर अपने खेत के किनारे पर वहां से एक फकीर गुजरता था उसने पूछा क्यों रोते हो उसने कहा मैं थक गया परेशान हो गया पूरे खोद खोद कर साल बर्बाद हो गई सारा खेत खोद डाला है लेकिन पानी नहीं निकलता वो फकीर गया और हंसने लगा उसने कहा पागल कहा तूने इतने गड्ढे किए एक ही जगह खोदता तो पानी कभी का निकल आता लेकिन चार छह खोदा और छोड़ दिया चार हाथ खोदा और छोड़ दिया ऐसे तो कुएं नहीं खुदते ध्यान स्वयं के भीतर कुआ खोदने जैसा है स्वयं के भीतर जो छिपा है जल स्रोत वो जो स्वयं के भीतर छिपी है ज्योति वो जो स्वयं के भीतर छिपा है जीवन वो जो स्वयं के भीतर छिपा है परमात्मा उस तक कुआ खोदने का नाम ध्यान है ध्यान पूरा खोदना ही है स्वयं के भीतर लेकिन कभी हम थोड़ा सा खोद लेते हैं वो किसान तो बहुत समझदार था चार छह हाथ खोजता था हम तो स्किन डीप भी नहीं खोदते चमड़ी की मोटाई के बराबर भी नहीं खोदते फिर छोड़ देते फिर सात दो साल में ख्याल आता है फिर थोड़ा खोदते हैं फिर छोड़ देते ऐसे जीवन बीत जाएगा और प्राणों के खेत में परमात्मा का कुआ नहीं खोदा जा सकेगा खोदना है वो कुआ तो सातत्य चाहिए श्रम चाहिए लगातार एक ही जगह चित्त को खोदते ही चले जाना है खोदते ही चले जाना है तो जरूर व्यक्ति स्वयं के भीतर उसे पाने में सफल हो जाता है जो मौजूद है जो उसकी संपदा है जो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है लेकिन अधिकतम लोग इसी तरह करते हैं शिविर में आएंगे आप फिर चले जाएंगे दिन दो दिन शायद ध्यान के लिए बैठे फिर भूल जाएंगे दिन दो दिन से नहीं कुछ होने का है जीवन भर की गलत आते हैं जीवन भर का गलत जीवन का ढंग है विचार के गलत उलझाव है दिन तो- दिन दो तो दिन से नहीं होगा हाथ दो हाथ खोदने से नहीं होगा गहरा है पानी क्योंकि हमने ही बहुत मिट्टी की परतें इकट्ठी कर रखी है हमने ही बहुत चट्टाने इकट्ठी कर रखी है सब में दब गया है नीचे मिट्टी खोदनी पड़े चट्टान काटनी पड़े खोदते ही चले जाना पड़े तो शायद शायद क्यों तब तो निश्चित ही भीतर के जल स्रोत पाए जा सकते हैं जिन्हें पाए बिना हर आदमी प्यासा जीता है और प्यासा मरता है और जिन्हें पा